परम पिता परमात्मा का स्मरण सबका पालक रक्षक प्रणव ध्वनि ओ परम प्रेमी सज्जनों वेद मंत्र के माध्यम से हम अपने भावों को उत्कृष्ट बनाते हैं वेद में ईश्वर ने हमारे लिए क्या निर्देश दिए हैं वेद में ईश्वर ने स्वयं अपने बारे में क्या बताया है उसको जान करके हम ईश्वर के प्रति उचित भावना कर पाते हैं परमात्मा को ठीक समझ करके ही उससे ठीक प्रार्थना कर पाते हैं आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का आज ये पचासवां मंत्र है ये मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 18वां मंत्र है मंत्र है तमीशानम जगतस तस्थुषस्पतिम धियंजिन्वम हुमहे वयम धियंजिन्वम अवसे हुमहे वयम पूषा नो यथा वेद सामसत्थे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्त परमात्मा को बताते हुए यहां कहा तम ईशानम उस परमात्मा को कैसा वो परमात्मा जो कि स्वामी है ऐश्वर्य से युक्त है ईशानम इस समस्त जगत का वो स्वामी है उसका अपना अनंत ऐश्वर्य है अनंत गुणों से वो युक्त है और प्रत्येक गुण चरम सीमा पर उसमें विद्यमान है ऐसा वो ऐश्वर्यशाली परमात्मा उसको महर्षि ने यहां पर यह भी अर्थ किया कि इस जगत की उत्पत्ति की इच्छा करने वाले को वो परमात्मा चाहता है कि ये जगत उत्पन्न हो और उस इच्छा से युक्त होके ही इस संसार को हम सब प्राणियों के हित के लिए आत्माओं के हित के लिए निर्मित करता है ऐसे उस परमात्मा को आगे कहा जगत तस्थुष पतिम परमात्मा ऐश्वर्यशाली तो है लेकिन उस ऐश्वर्य के साथ साथ वो अन्यों की रक्षा भी करता है जगत ये जो चलायमान जगत है जो प्राणी जगत है गतिशील है उसकी और तस्थुष जो स्थिर है अपने आप में गति से रहित है स्वयं की गति से रहित है ऐसा जो जड़ जगत है इस सब का यानी सारे चर और अचर जगत का चराचर जगत का चर यानी जो गति करता है अचर यानी जो गति नहीं करता है इसी के लिए इसी जैसे दूसरे शब्द हैं चल अचल चल अचल कहें या चर अचर कहें वैसी बहुत लिखते हैं इस समस्त चराचर जगत का चर और अचर जगत का ये पति भी है कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से युक्त होते हुए रक्षक भी हो अन्यों का ये आवश्यक नहीं होता है वो अपनी रक्षा के लिए भी लगा रह सकता है दूसरों की चिंता ना करते हुए लेकिन ये परमात्मा ऐश्वर्य से भी युक्त है और इस समस्त चर और जगत अचर जगत का पालक है उसकी रक्षा कर रहा है दूसरे शब्दों में उसकी रक्षा से रक्षित ही ये सब चल पा रहे हैं नहीं तो ना तो चर और ना अचर जगत इस रूप में रह सकता था जैसा कि आज है तो इसके पीछे इसकी रक्षा के पीछे भी वो परमात्मा है ऐसे उस परमात्मा को आगे कहा धियन जिनवम धियम अर्थात बुद्धि को ज्ञान को जिनवम तृप्त करने वाले को प्रीणन अर्थ में जीवी धातु है जिन वम उस परमात्मा को जो हमारी बुद्धि को ज्ञान को तृप्त करता है परमात्मा ने हमें जिस तरीके से ज्ञानेन्द्रियां दी हैं और वो अपना अपना काम करती हैं हमें किसी अनजान सुनसान स्थान पर आंख बंद करके कान बंद करके नाक बंद करके जनेन्द्रियों को सबको बंद करके छोड़ दिया जाए तो हमारी क्या स्थिति बनती है प्रथम भावना हमारे अंदर उठती है मैं कहा हूं कि कौन सा स्थान है हम देखना चाहते हैं आसपास में कौन है उनको देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं सुनना चाहते हैं आसपास की वस्तुओं को सूंघना चाहते हैं चखना चाहते हैं ये एक एक इंद्रिय हमारे ज्ञान की तृप्ति करने के लिए हमारी बुद्धि की तृप्ति करने के लिए जिनके चक्षु नहीं होते उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी उनको तड़प होती है कि रंग क्या होता है ये पेड़ जिसको कह रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है ये मनुष्य कैसे दिखाई देते और जिन्हें सुनाई नहीं देता उनकी तड़प देखिए कि ये व्यक्ति अन्य मनुष्य बोलते हैं संकेत प्राप्त करते हैं व्यवहार करते हैं कैसे कर लेते हैं ये ये क्या बोलते हैं बोलने से क्या होता है बुद्धि सतत जानने की इच्छा वाली होती है यानी उसमें ज्ञान की कामना सतत रहती है कामना करने वाला आत्मा है लेकिन बुद्धि से युक्त जब वो होता है तो बुद्धि तो जान की स्थिति पर ही तृप्त होती है हमें कोई खड़खड़ाहट सुनाई दी तो एकदम जानने की ऊंचाई कौन आया है और जब हमने बाहर निकल के देख लिया कि ये व्यक्ति है ये मेरे से मिलने आए हैं तो तृप्ति का भाव बुद्धि में आ जाता है कोई वस्तु खाद्य पदार्थ देखा तो उसको खाने की इच्छा करती है सूंघने की इच्छा करती है उसको खाया सूंघा तो बुद्धि की तृप्ति होती है जो कुतूहल है वो समाप्त तो होता है तो परमात्मा ने ये संसार इस तरह का बनाया और इसको जानने के लायक भी हमें बना दिया है मात्र इंद्रिया ही नहीं बुद्धि भी ऐसी दी है तो परमात्मा हमारी बुद्धि को तृप्त करने वाला है उसकी व्यवस्था ऐसी है कि हमारी बुद्धि तृप्त होती है जिन जिनवम बुद्धि को तृप्त करने वाले उस परमात्मा को बुद्धि की ये तृप्ति तो एक स्थूल रूप में है जब हम इस संसार को देखते हैं कारण कार्य संबंध देखते हैं यहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं इसके प्रयोजन को समझना चाहते हैं तो बिना परमात्मा के इस संसार की व्याख्या नहीं की जा सकती बुद्धि तृप्त नहीं हो सकती केवल जड़ जगत को केवल चेतन जगत को और इनके परस्पर व्यवहार को देखते समझते बुद्धि पूर्ण तृप्त नहीं हो सकती प्रश्न बना रहेगा आखिर ये क्यों क्यों कोई मनुष्य बना है क्यों कोई पशु बना है बिना ईश्वर को लाए बुद्धि की ये तृप्ति हो ही नहीं सकती क्यों ये व्यक्ति जन्म लेता है मर जाता है क्यों कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है बुरे कर्म करता है कैसे इन सब चीजों में परस्पर सामंजस्य बना हुआ है हमारे अनुकूल वनस्पतियां पैदा हो रही हैं हमारे जो अपद्रव्य हैं वो उनके कार्य आ रहे हैं ये इतना अद्भुत संतुलन सामंजस्य समरसता कैसे बन गई है बुद्धि की तृप्ति बिना ईश्वर को स्वीकारे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को स्वीकारे नहीं हो सकती कि परमात्मा ही हमारी बुद्धि को तृप्त करता है धियन जिनवम ऐसे उस परमात्मा को और इसके आगे का अर्थ लें हम परमात्मा से प्रदत्त इंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हुए सदुपयोग करते हुए जितना भी जान पाते हैं वो भी बहुत सीमित होता है उतने मात्र से हमारी तृप्ति नहीं हो पाती तो परमात्मा ने अंतकरण में भी हमारे लिए ज्ञान की व्यवस्था की है वो हमें अंतकरण में हमारी बुद्धि में भी ज्ञान देता रहता है संसार की कितनी भी जानकारी हम प्राप्त कर लें लेकिन चेतनों के परस्पर संबंध व्यवहार कैसे होने चाहिए उसकी सूक्ष्मता और जहां जहां द्वंद्व उपस्थित होते हैं असमंजस होता है ये करें या ये करें ये उचित है या ये उचित है इसका ठीक ठीक ज्ञान बिना परमात्मा के नहीं हो सकता कितना भी जानकार व्यक्ति हो बुद्धि की पूर्ण तृप्ति उसमें नहीं हो सकती उसके मन में लगा ही रहेगा अभी ये नहीं जाना है अभी ये नहीं जाना है लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है जिसके जान लेने पर समस्त जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं ऐसा वो परमात्मा धीयन जिनवम हमारी बुद्धि को तृप्त करने वाला है प्राणन करने वाला है प्रीणन करने वाला है ऐसे उस परमात्मा को तो मंत्र की इन पंक्तियों में इस पंक्ति में जो शब्द आए तम ईशानम जगतस तस्तुष पतिम धियन जिनवम उस परमात्मा को क्या करें वयम हम लोग हु महे पुकारते हैं उसकी इच्छा करते हैं ये आर्य कह रहा है एक श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहा है जिसने इस संसार को पर्याप्त मात्रा में समझा है वो कह रहा है कि हम हु महे हम उसको पुकारते हैं उसकी इच्छा करते हैं हमें उस परमात्मा की इच्छा करनी चाहिए इस स्वरूप वाले परमात्मा की इच्छा करनी चाहिए आर्य के लिए सबसे आकर्षक वस्तु ज्ञान होता है वो अपनी बुद्धि की तृप्ति चाहता है अपनी बुद्धि की संतुष्टि चाहता है वो इस संसार की उचित व्याख्या चाहता है वो इस संसार के प्रयोजन को ठीक ठीक जानना चाहता है अन्य वस्तुओं की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है और आर्य जानता है कि ज्ञान के बिना इन सब का सदुपयोग नहीं हो सकता मैं इनका दुरुपयोग कर लूंगा तो उस ज्ञान के देने वाले परमात्मा को हम हु महे पुकारते हैं उसकी प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए प्रार्थनीय है और आगे कहा वो परमात्मा कैसा है और वो परमात्मा कैसा हो हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे ऐसे उस परमात्मा को जिस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं चाह रहे हैं वो हमारे लिए कैसा हो जाए पूषा नो यथा न हमारे लिए यथा जैसे वह पूषा है पोषण करने वाला है हमारी पुष्टि करता है ऐसे ही वह वेद साम असत्थे रक्षिता वेद साम वेद शब्द धन के नाम में भी पढ़ा गया है निरुक्त में और वेद शब्द ज्ञान अर्थ में भी है प्राप्ति अर्थ में भी है तो उस परमात्मा को जो कि धन और विज्ञानों की वृद्धि करने वाला है वृद्धे वृद्धि के लिए उस परमात्मा को असत हम प्राप्त करें वह परमात्मा हमारे धन और विज्ञान की वृद्धे वृद्धि के लिए असत होवे भवेत वो परमात्मा ऐसा हो जाए जो परमात्मा हमारी पुष्टि करता है वह परमात्मा हमारे धन और विज्ञान को भी बढ़ाने वाला हो जाए तो हम उसे बढ़ाना चाहते हैं इसको दूसरे ढंग से भी यथा शब्द का अर्थ लेते हुए देख सकते हैं कि हम परमात्मा को प्रथम पंक्ति में जैसा कहा हु महे ऐसे परमात्मा का हम आह्वान करें यथा जिससे कि उस आह्वान से उस आह्वान के कारण से जिससे कि न पूषा वो हमारे लिए पोष हो पुष्टिकारक पुष्टि और हमारे धन और विज्ञान की वृद्धि के लिए हो जाए आगे कहा परमात्मा रक्षिता वो रक्षा करने वाला है पायु पायु का अर्थ भी रक्षा करने वाला है पारक्षणे अदब्ध हिंसा रहित स्वस्थ कल्याण के लिए दंभ धातु निरुक्त में हिंसा कर्म में पढ़ी गई है दंभति दफनोती वध कर्म वध कर्म में पढ़ी गई है तो जो अदब्ध है जो वध नहीं करता है हिंसा नहीं करता है ऐसा वो परमात्मा इसका अन्वय कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहां रक्षिता और पायु ये दो शब्द समानार्थक आए हैं पा धातु भी रक्षण रक्षण अर्थ में है पायु जो रक्षा करता है और रक्षिता का मतलब भी जो रक्षा करता है इन दो को हम किस तरह से देखें तो यहां पर इसके साथ साथ जुड़े हुए शब्दों से देखेंगे वृद्धे रक्षिता वो परमात्मा कैसा है रक्षिता है लेकिन किसके लिए वृद्धि के लिए और दूसरी तरफ देखेंगे कि वायु रक्षा करने वाला है कैसा रक्षा करने वाला है अदब्ध पायु हानि रहित रक्षा करने वाला है ऐसा वो परमात्मा स्वस्थ स्वस्ति के लिए कल्याण के लिए कोई व्यक्ति हमारी रक्षा करता है उस रक्षा से क्या होगा हमारा मात्र रक्षा करके छोड़ दे किस लिए रक्षा वृद्धि के लिए रक्षा रक्षित अवस्था में हम बढ़ते हैं वृद्धि को प्राप्त करें ऐसा वो परमात्मा है वो रक्षा करता है वृद्धि के लिए वृद्धि कारक है और वो हमारी ऐसी रक्षा करता है जो अदब्धा है हानि रहित है दोष रहित है ऐसी रक्षा करता है अनेक बार हमें ऐसी रक्षा प्राप्त होती है जिससे हमारी कुछ हानि भी होती है रक्षा तो हो जाती है किसी विशेष चीज से लेकिन साथ में कुछ हानि भी होती है लेकिन हम ये चाहते हैं आर्य ये चाहता है कि रक्षित अवस्था ऐसी हो कि उसमें कोई दूसरी हानि भी ना हो ऐसी रक्षा और ऐसी रक्षा जिसमें कि हम बढ़ सकें किसी ने हमें रक्षित कर दिया लेकिन आगे हमारे लिए वृद्धि के लिए अवसर नहीं है वहां पर व्यक्ति उस रक्षा को स्वीकार नहीं करेगा अधिक दिन रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वृद्धि भी हो रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो स्वस्ति हो और रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमारी हानि ना हो ये हमारी कामना है हम चाहते हैं और परमात्मा ऐसी ही रक्षा करता है उसकी रक्षा हमारी वृद्धि के लिए है उसकी रक्षा नाश कभी नहीं करती है हानि कभी नहीं करती है तो पायु को हम एक तरफ हम जोड़ेंगे स्वस्थ ये स्वस्थि के लिए होवे कैसा अदप्त पायु नाश रहित रक्षा करने वाला हो वो वो परमात्मा हमारी स्वस्थि के लिए कल्याण के लिए महर्षि ने स्वस्ति का अर्थ खोला निरुपद्रवता के लिए उपद्रव कहते हैं कुछ हानि को अव्यवस्था को तो निरुपद्रवता के लिए स्वस्ति के लिए परमात्मा कैसा रक्षा करने वाला हो अदप्त नाश रहित और वेद ज्ञान और धन की रक्षा के लिए वो कैसा हो वृद्धे बढ़ने वाला असत होवे ये हमारी कामना है तो आर्य परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हुए उसे पुकारता है उसे चाहता है और परमात्मा को चाहने पर पुकारने पर उसकी प्रार्थना करने पर ही हम ये स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं उससे हमें वो रक्षा प्राप्त होगी जो हमारी वृद्धि कारक होगी उससे हमें वो रक्षा प्राप्त होगी वो हमारा ऐसा रक्षक बन जाएगा जिसमें कि हमारी हानि नहीं होती है और यही हम चाहते हैं तो मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई आर्य ऐसी प्रार्थना करें परमात्मा को इस रूप में देखें बुद्धि का प्रेरक बुद्धि को तृप्त करने वाला ये भी एक विशेष गुण यहां पर कहा गया है अन्य कई विशेषण हम अनेक मंत्रों में पढ़ते रहते हैं लेकिन यहां एक ध्यन जिनवम विशिष्ट पद आया है परमात्मा सतत हमारी ज्ञान की इच्छा को पूरा करता है जिज्ञासु की इच्छाओं को वो अंतकरण में अंदर ही अंदर भी पूरा करता है वही हमारे को ज्ञान के स्तर पर पूर्ण तृप्त करने वाला है हम ऐसे उस ज्ञान के भंडार सर्वज्ञ परमात्मा की कामना करते रहें मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण और शांति पाठ ओ शान्तिरन्तरिक्षम् पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको नमस्कार